ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्मया कुर्या मामा ब्रह्मया करो नया सामवेदीय छांद के परिषद तृतीय अध्याय उन्नीसवें खंड के ऊपर प्रथम मंत्र के ऊपर विचार चल रहा था मंत्र और भाष्य हो गया था टीका के साथ है इस मंत्र का संबंध सर्वम खलु इदम ब्रह्म वहां से लेकर के संबंध स्थापित होता है जो चतुर्दश खंड में आया था चौदह खंड में सर्वम खलु इदम ब्रह्म तत्जलान शांत तो उपासित है वो जो ब्रह्म की उपासना बताई वहां तज तल्ल तद अन करके बताए दूसरे मंत्र में कहा गुण सहित उपासना करनी चाहिए खाली ब्रह्म के नहीं हाँ, मनोमय प्राण मनोमय प्राण शरीर भार उपास सत्य संकल्प आकाश आत्मा सर्वकर्म सर्व काम सर्वगंध सर्वरस सर्वमिदम अभा अबाकी अनादर ये गुण बताया था वहां तो गुण में आया था एक मन आया था और एक आदित्य आकाश आया था हाँ। मनोमय आकाश आत्मा तो वहां पर मन को और आकाश को माने गुण में से एक देश करके लिया गया था उसको आकर के <clears throat> या अष्टादश खंड में आकर के बोला वहां एक देश से जो गुण को लिया था मन और आकाश को उसको समस्त रूप से उपासना करनी चाहिए कहीं का कहा मनोभ्रमित उपासित अष्टादश खंड में आकाश भ्रमित उपासित ऐसा आया तो उसमें भी वो जो मनोरूप ब्रह्म का चार पाग बताया था बाघ प्राण और बाघ प्राण चक्षु स्रोत्र प्राण माने ग्रहण लिया था और आदित्य रूप ब्रह्म का भी चार पाद बताया था जो आदित्य रूप ब्रह्म उसका था कि अग्नि ये उसका आकाश रूप ब्रह्म का भी चार पाद बताया था अग्नि वायु आदित्य और दिशा उनमें से आदित्य और इस मन को एक देश करके लिया था अब उस वह आदेश के सर्वदेश रूप से लेना है तो आकाश के अंगभूत चार पाद में से एक अंग बना हुआ ब्रह्म था ये आदित्य उसको समस्त रूप से उपासना का है आदित्य ब्रह्म की उपासना मानिए सांडिल्य विद्या से संबंध रख रहा है मनोब्रह्म अष्टादश खंड और उसके साथ में इसका संबंध है माने जो आकाश रूपी ब्रह्म का जो आकाश ब्रह्म उपासित आया अष्टादश खंड में उसके जो चार पाद बताया था अग्नि वायु आदित्य दिशा उनमें से एक पाद के रूप में आदित्य की उपासना बताई थी आकाश रूप ब्रह्म का उसके यहाँ समस्त रूप से ब्रह्म दृष्टि से उपासना करनी उस आदित्य की आदित्य की उपासना क्यों तो इसलिए आदित्य के बिना कुछ नहीं संसार में ये जो नाम रूप प्रकाशित होता है दिखाई पड़ता है आदित्य के कारण से ही होता है ये स्थिति है इसलिए आदित्य की महिमा है ये बताया था भाष्य में कहा था आदित्य ब्रह्मण पाद इति उक्त आदित्य आकाश रूप ब्रह्म का एक पाद है कहा था अष्टादश खंड में कहा था तस्मिन सकल ब्रह्म दृष्टिचर्याम इदम आह उसमें असंपूर्ण संपूर्ण ब्रह्म दृष्टि दी है इसके लिए यह आगे के उपासन है इदम दर्शन आकार टीका में कहते हैं <clears throat> तस्य आदि तस्य इत्यादि इति आदित्य गृह दे ऐसा जो तस्य पद आया है उसका अर्थ आदित्य होता है तस्य इति आदित्य गृह गृहते जो तस्य पद है माने आदित्य ब्रह्म की आदेश उपदेश तस्य उपव्याख्या जो तस्योपव्याख्यान में आया हुआ तस्य शब्द है उसका अर्थ आदित्य आदित्य से यह व्याख्या होनी है अनभिव्यक्त नाम रूपत्व अभिप्रायण असत शब्दों गौण व्याख्या गौण व्याख्या तत्र एवकार अवस्तम में ना संभव कहते हैं असदैव इदम अग्रे आशीत ऐसा शब्द आया ये जो नाम रूपात्मक जगत अभी जो फूलीभूत जगत है असत था सृष्टि के पूर्व अवस्था में असत था ऐसा बता रहे तो इससे यहां शंका आती है असत माने शून्य होगा तुच्छ होगा ये शंका है किंतु कहते हैं नहीं अनववित्त नाम रूपत्व अभिप्राय असत शब्द गौ यहाँ असत शब्द मुख्य अर्थ नहीं गौ अर्थ में है माने इस जगत का नाम रूप अभिव्यक्त नहीं हुआ था ये कहने का तात्पर्य जगत था सूक्ष्म रूप से था अनविभक्त नाम रूपत्व अभिप्राय था असत शब्दों गौण असत शब्द का तो मुख्य अर्थ नहीं लेना यहाँ असदैव एकदम आसत गौण है माने इस जगत का नाम रूप अभिव्यक्त नहीं हुआ था इसलिए असत कहा गया वास्तव में असत नहीं क्यों तो आगे कहते हैं व्याख्या तत्र एवकार अवस्थम में संकल्प पूर्वादि शंका करता है महाराज असत एव एव लगाया हुआ है मुख्य अर्थ लेना पड़ेगा एवकार के सहारा लेकर के पूर्वादि शंका करता है असदैव बोला हुआ है असत ही था कैसे कौन करेंगे उस अर्थ को अनव्यक्त नाम रूप कैसे करेंगे एवकार लगा है इसलिए शंका करता है नौनू करके शंका है भाष्य में कहा था कि पहले असत मैंने अव्याकृत नाम रूपम इदम जगत असत शब्द का अर्थ कुछ नहीं नहीं अव्याकृत नाम वाला था नाम रूप अव्याकृत व्याकृत नहीं हुआ ऐसा जगत ये सारा जगत अशेषम अग्रे प्राग अवस्थायाम उत्पत्ति राशि उत्पत्ति के पूर्वम स्थिति में जगत था न तो असदैव माने अव्यक्त था अनविव्यक्त नाम रूप वाला था न कि असत नहीं था एक कहा क्यों ष्ठ अध्याय में जाकर के ष्ठ अध्याय के जो द्वितीय खंड के द्वितीय मंत्र में आया सदैव सौम्य मग्रे आशीत एक अनुवाद द्वितीय तद्धय के आहु उसी मंत्र में आया तद्धय के आहु असदैव एकदम अग्रे एक द्वितीय पहले सदैव स्वामी कहा कुछ लोग कहते हैं असत था यह जगत करके बोल कहा तब कहा कि कथम असत सत सदैव सौम्य एकदम अग्रे आशित एक फिर दोबारा बोला असत से सत की उत्पत्ति कैसे होगी कुछ नहीं से वस्तु कैसे उत्पन्न होगा अभाव से कुछ हो नहीं सकता भाव कि वस्तु कोई भी वस्तु चाहने वाला व्यक्ति कारण को ढूंढता है अभाव से होना तो अभाव पहले विद्यमान है क्यों नहीं होता तो प्रथम असत सज्जायत यदि असत कार्य से प्रतिषेधा राशि में कहा हुआ असत कार्य का प्रतिषेध किया असत से कार्य नहीं हो सकता है असत का कार्य कुछ हो नहीं सकता कारण सत होगा प्रतिषेध होने से यहाँ असदैव इधम आश्रित जो यहां आया इसका अर्थ है अव्याकृत नाम रूप वाला था असत नहीं असत शब्द गौण प्रयोग है भाष्यकार ने बोला इसके ऊपर पूर्वादि की शंका है एवकार लगा हुआ है असत एव मुख्य अर्थ ही लेना पड़ेगा कुछ नहीं था सृष्टि के पूर्व में असत था ऐसा अर्थ लेना होगा ये कहा मानो यह असदैव इति विधानात विकल्प से पूर्वादि शंका करता है ष्टाध्याय में ऐसा है ना वहां पर आक्षेप किया कथम असत असत जाए था इसलिए वहां असत का अर्थ गौण प्रयोग करेंगे किंतु यहां तो ऐसा आक्षेप नहीं है कथम असतः सत जाए तो शब्द नहीं है यहाँ आक्षेप नहीं है न होने से असती लिया जाए ये पूर्वाधिक का कहना है ननु यह असदैव इति विधानाद विकल्प से वहां विकल्प माने वहां सत मान अव्याकृत नाम रूप वाला मानेंगे ष्ठ अध्याय और यहां पर असती मानेंगे विकल्प मानेंगे यहाँ यहां मानेंगे असती था कुछ नहीं था और वहां मानेंगे अव्याकृत नाम रूप वाला ष्ठ अध्याय में ऐसा कहेंगे ये कहना चाहता है सिद्धांत कहते हैं कथम असत सज्जायता इति असत कारणत्व ष्ठे निराकर्षमाणत्वाद पूर्वादी बोल रहा है प्रथम असत सज्जायत इति असत कारण असत कारणत्व का ष्ठ अध्याय में निराकरण और खंडन होना है तो आक्षेप किया वहां कथम असत असत असज्जायत निराकरण करिष्मानत्वा निराकरण होने वाला है इसलिए तत्र सत्कारण बहुत वहां सत्कार माना जाएगा वहां असत का अर्थ अविद्यमान नाथ रूप तत्र मान ष्ठ प्रकृति तो अब यह वर्तमान में जो चल रहा है तृतीय अध्याय में यहाँ यहाँ तो सावधारणा अवधारण के साथ है ये लगा हुआ है असदैव अवधारण के साथ होने से असत शब्दार्थ हाँ। असत शब्द अवधारण के साथ है एवकार के साथ है इसलिए असदैव कारण विवक्षितम या असदी कारण विवक्षित है इति ऐसा पूर्वादि ने कहा माने कैसा उदित अनुदित हो मत विकल्प जैसे उदिते जो होती अनुदिते जो होती ऐसा पूर्व मीमांसा में मंत्र आता है एक दोनों यज्ञ करते हैं एक व्यक्ति सूर्योदय से पहले हवन करता है और एक सूर्योदय के बाद हवन करता है दोनों हो सकता है क्यों क्रि, वो क्रिया है कर्ता की इच्छा के अधीन है वो कर्ता जैसे चाहे एक पहले कर लेता है बाद में कर लेता है क्रिया है जैसा है वैसे यहां भी ऐसे विकल्प किया जाए यहां तो असति माना जाए और वहां सब अविद्यमान नाम रूप वाला माना जाए असत्य माना जाए विकल्प हो गया ये पूर्ववादी ने कहा किंतु सिद्धांत कहते हैं क्रिया या कर्तृत्व अंतर अरे भाई क्रिया जो होती है कर्ता के अधीन होते तुमने जो कहा उदित होम और अनुदित होम उदित ज्योति अनुदित ज्योति जो कहा जाता है वो क्रिया है भवन करना भवन क्रिया है वो कर्ता के इच्छा के अधीन है कर्ता की इच्छा पहले हो गई तो सूर्योदय से पहले करेगा और कर्ता की इच्छा बाद में हो तो बाद में करेगा वहां विकल्प हो सकता क्रिया में क्रियाया कर्तृतंत्रत्वाद उदित अनुदित हवन जो है क्रिया है क्रिया कर्ता के इच्छा के अधीन है कर्तृतंत्र कर्ता के अधीन होने से तद इच्छाया उसके कर्ता के इच्छा से तत्र विकल्पा विकल्पात वहां विकल्प हो, हो जाता है क्रिया में किंतु नस्तु जो वस्तु है वस्तु में विकल्प नहीं होता क्रिया में विकल्प है यहां तो वस्तु की चर्चा है सत है कि असत है सृष्टि के पहले वस्तु नस्तु वस्तु वस्तु में तो सिद्ध से तत्शब्द अनुविधायित आता सिद्ध वस्तु में तत्शब्द माने असत शब्द का अनुविधाई नहीं होता न विकल्प संभव थी इसलिए विकल्प संभव नहीं होगा इसलिए <clears throat> नहीं थाणुरेव कश्चित अपेक्षया पुरुषो भवती सिद्धांत ये बोलते देखो यह ठूंठ पड़ा हुआ है किसी के दृष्टि में थाणु दृष्टि बन जाए किसी के दृष्टि से वस्तु एक ही वस्तु को दो माना जाए कोई मानता हो उसको पुरुष और कोई मानता हो थाणु ऐसा हो नहीं सकता थाणु है तो थाणु है पुरुष है तो पुरुष है एक ही होगा वस्तु में विकल्प नहीं होगा ये नहीं कि जैसा मानना चाहे वैसे हो जाए वो एक व्यक्ति थाणु मानता है दूसरा पुरुष मानता है दोनों हो जाए ऐसा नहीं हो सकता क्रिया में विकल्प है वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता वस्तु जैसा है एक ही होता है ये सिद्धांत ने कहा न ये सिद्धांत बोलते हैं न क्रिया स्वरूप वस्तु में विकल्प होने जैसे की दृष्टांत है जैसे क्रिया में विकल्प होता है उस प्रकार वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता आगे पूर्ववादी की शंका विकल्प असंभवे वाक्य से गतिर वक्तव्य फिर ये जो असैदेव वाक्य का अर्थ बताना पड़ेगा विकल्प नहीं हो सकता है तो वहां भी असत आया वहां का और यहां भी असत आया तो वो हमने कहा विकल्प करेंगे वहां आक्षेप के कारण से कथम असत असत जाए तो ऐसे वाक्य है वहां यहां पर असर एव एवकार लगा हुआ है तो फिर विकल्प असंभव जो विकल्प नहीं हो सकता है वस्तु में स्थिति में वाक्य से गति वक्तव्य असदैव यदमग्रे आश्रित जो वाक्य है इसकी गति बताना चाहिए ऐसे पृछती इतना पूछता है पूर्वादी कहा कथम तभी इधम असदैव फिर कैसे कहा असदैव पूर्वादी शंका हो गई सिद्धांत ठीक है असत शब्द से व गति ही अवधारण से बात पृछते आद्य महा ये गति किसके पूछते हो असत शब्द की क्या गति होगी ये पूछना चाहते हो अथवा अवधारण एवकार के विषय में पूछना चाहते हो दो सिद्धांत ने विकल्प दिया असत शब्द की क्या गति होगी अथवा अवधारण एवकार लगा हुआ है उसकी क्या गति होगी ये पूछते हैं तत्र आद्यम प्रत्याह पहले वाला <coughs> असत शब्द की गति है सिद्धांत कहते हैं अव्यक्त मान के काम चलेगा अव्यक्त नाम रूप वाला यही कहते हैं ननु अबोचाम भाष्य में बोला ननु अबोचाम पहले वाला अव्यक्त शब्द की गति असत शब्द की गति जो है हाँ, अव्याकृत नाम रूप असत इव असत ये हमने बोल दिया पहले नाम रूप थूलीभूत न होने के कारण असत जैसा असत वास्तव में असत नहीं है पहले से है किंतु नाम रूप न होने के कारण भाषता नहीं असत जैसा हो गया असदैव असत एक आगे टीका में द्वितीयम संगति पूर्वादि बोलते एवकार की क्या गति होगी फिर असत एव बोला हुआ है असत इव नहीं बोला एव बोला है तो ननो एव सत ननो एव शब्द अवधारणा था पूर्वादि का एव शब्द तो निश्चय के लिए एव असत ही था ऐसा कहने के लिए है अवधारण के लिए है तो टीका में सिद्धांत कहेंगे <clears throat> पूर्वादि था तस्य क्या गति फिर एवकार की क्या गति होगी ये शंका लगा सिद्धांत बोलते हैं देखो असदैव इदम अग्रे आशित में आगे आशित क्रिया भी है उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा आशित माने था हाँ, अस्तित्व का विधान कर रहा हो क्रिया ये भी है यही सिद्धांत है पूर्वकालीन शब्द को अभिधाएगा पूर्वकालीन के अस्तित्व का कथन करने वाला आशित शब्द से वाक्य से श्रवणा वाक्य से उसी वाक्य के अंतिम में आशित क्रियापद है पूर्वकालीन पूर्वकालीन सत्व का अविधायक है पूर्वकालीन में अस्तित्व दिखा रहा है आशित शब्द है अविधायक आशित शब्द से वाक्य शेष श्रवणा वाक्य के शेष में असद मिले आशित उसी में वाक्य शेष में सुनाई पड़ रहा है इसलिए न उपक्रम में सत्वाभाव अवधारण विवक्षित फिर उपक्रम में आरंभ में सत्व का अभाव का निश्चय कराने के लिए अवधारण नहीं है एवकार नहीं है यह समझना पड़ेगा वहां आशित क्रिया आड़े आ रही है इसलिए एवकार का अर्थ सत्व का अभाव ये नहीं ये नहीं होगा किंतु नाम अर्थ क्या करेंगे वहां किंतु आशित क्रिया के योग से देखने पर एवकार का अर्थ करेंगे किंतु अभिव्यक्ति अभाव अभराव अभिव्यक्ति का अभाव था ये कहना तात्पर्य है जगत की अभिव्यक्ति नहीं हो रही थी यह अर्थ में तात्पर्य है अभिव्यक्ति <clears throat> माने आशित क्रिया के बल से ये देखा जाता है एवकार का अर्थ असत का उसका नहीं सत्व का अभाव सिद्ध करना अर्थ नहीं है माने अभिव्यक्ति का अभाव सिद्ध करना पूर्व किंतु अभिव्यक्ति अभाव अवधारण आदित्य स्तुत्य ये किसके लिए देखो भाई आदित्य नहीं था ना उस काल में बाद में आदित्य उत्पन्न होगा तब तक ये असत जैसा था जिस जगह ये बोलने तो आदित्य की आदित्य की स्तुति प्रशंसा के लिए वाक्य है सदैव राशि ये कहा हुआ आदित्य की प्रशंसा के लिए उस काल में आदित्य नहीं था इसलिए असत्य ऐसा था अभी दृष्टांत भी देंगे उसके लिए यही है ये समाधान देते हैं कहा सत्यम एवं सिद्धांत ने कहा सत्यम ठीक है ये न तो सत्वम अवधार है एवकार है अवधारण है हम मानते हैं किंतु सत्व का अभाव का अवधारण नहीं करता ये मैंने नहीं था करके नहीं बोल सकता किंतर ही पूर्वादि फिर क्या है तब कहते हैं नाम रूप व्याकृत विषय सब शब्द प्रयोग दृष्टा देखो भाई घटो अस्थि पटो अस्थि कब बोलते हैं जब नाम रूप लगा होगा आकृति में आ गया नाम मिल गया तभी अस्थि प्रयोग होता है <clears throat> जायते के बाद अस्थि प्रयोग होता है नाम रूप व्याकृत विषय है जब नाम रूप जिसके व्याकृत हो गया ऐसे विषय में थूलीभूत हो चुका है ऐसे वस्तु में सत शब्द प्रयोग हो दृष्टा हुआ है सत शब्द का प्रयोग दिखाई पड़ता है तत्व वो जो सत शब्द है नाम रूप व्याकरण आदित्य आयतम तो नाम रूप का व्याकरण होना होगा थूलीभूत होना आदित्य के अधीन है आदित्य के बिना नहीं होना होगा वस्तु हाय करके बोलने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है प्रकाश आदित्य में आदित्य प्रकाश रूप है तो आदित्य के अधीन है नाम रूप व्याकरण होना तच नाम रूप व्याकरण आदित्य आयतम आदित्य के अधीन होने से सह जगत जगत का प्राय यही होता है सूर्य के अधीन नाम रूप व्याकरण होता है थूलीभूत होता है देखा है तद अभावे जब सूर्य का अभाव है सूर्य नहीं है जब अंधम तमह सारा अंधेरा ही छाया जाता है नाम रूप दिखता ही नहीं अंधेरे में घट पट मट कुछ बोला नहीं जा सकता तद अभाव है आदित्य के अभाव में अंधम तमह इधम न प्रज्ञा तो अंधेरा हो जाएगा ये कुछ भी नहीं जाना जाए जगत का पता ही नहीं लगता आदित्य के अभाव में कौन घट है कौन पट है कौन चट है कुछ पता नहीं लगता तद अभाव आदित्य अभाव अंधम ही अंधम तमह हरियाणा छा जाएगा इधम न प्रज्ञात किंचन कोई भी वस्तु का ज्ञान नहीं होगा इति तत्तुति परे वाक्य हो आदित्य की स्तुति एक वाक्य है ये ये जो असदैव दमग्र आशित आदि आदित्य नहीं था उस काल में इसलिए असत जैसा था अव्याकृत नाम वाला था असत जैसा था परे वाक्य सद अपनी इदम जगत प्रागोत्पत्ति ये जगत है सूक्ष्म रूप में है पहले होते हुए भी सद इदम प्राग उत्पत्ति जगत असदैव इति आदित्यम भवती इस तरह से होता हुआ भी नहीं के बराबर रहा ये जगत ये कहने के लिए कहा या आदित्य को स्तुति कर दे बाकी कौन प्रशंसा कर दे असदैव तो पुत्र आदित्य की प्रशंसा किसके लिए तो कहा ब्रह्म दृष्टि अर्थ का है आदित्य की प्रशंसा इसलिए की जा रही है यहां उसको ब्रह्म दृष्टि की योग्यता के लिए अभी तो आदित्य ब्रह्म तो उपासित तो होगा इतने स्तुति के कारण से कहा ठीक है वह पुनर्यम आदित्य तुल्य रूप विज्ञते तथा फिर यह आदित्य की स्तुति की उपयुक्त उपयोगिता कहाँ होनी है गुरुवाजी ने पूछा तो कहा ब्रह्मदृष्टि अर्थ आया ब्रह्मदृष्टि की योग्यता के लिए तभी ब्रह्मदृष्टि होगी ठीक है अभी कहते हैं जगतो नाम रूप व्याकरण आदित्य आयतम यदि तद उपागई जगत के जो नाम रूप थूलीभूत होना है आदित्य का अधीन जो कहा था उसके अब सिद्ध करते हैं कैसे आदित्य शब्द से कहा आदित्य निमित्तो ही लोके सत इति व्यवहार लोक में सत बोलते हैं घटो अस्थि पटो अस्थि वस्तु है कब प्रकाश होगा तभी प्रकाश पुंज आदित्य है आदित्य निमित्त ही होता है ये सद व्यवहार जो लोक में होता है हय करके जो व्यवहार होता है आदित्य के बिना नहीं अधेरे में घट को नहीं बोलेगा बोलेंगे है कहां बोलेंगे दिखता नहीं नाम रूप की अधीन वस्तु है वो नाम रूप आदित्य के द्वारा प्रकाशित होता है आदित्य निमित्त ही लोके सदित व्यवहार आदित्य निमित्त ही लोग में सब शब्द का प्रयोग होता है ठीक है कहते हैं तथापि कथम आदित्य तिथि चलो आदित्य निमित्त लोक व्यवहार होगा फिर भी आदित्य की प्रशंसा कैसे हो गई ये शंका करके दृष्टांत से समर्थन करते हैं दृष्टांत देते हैं कि यथा असदैव एकदम राजकुलम ये राज परिवार नहीं है वह है राज परिवार नहीं बोल दिया जाता है असदैव एकदम राजकुलम ये राज परिवार नहीं है क्यों सर्वगुण संपन्न पूर्ण पूर्ण ब्रह्मणी राजनी अस्मृति सर्वगुण संपन्न राजा पूर्ण पूर्ण ब्रह्मा नाम का राजा उसके न होने पर ये राजगुण नहीं है बोला जाता है राजगुण किंतु उसके अभाव में तो कुछ नहीं दिखता ऐसे सूर्य के अभाव में जगत की कोई सत्ता ही नहीं दिखता ये बोलने में तात्पर्य यथा असदैव एवं राजकुलम ये राज परिवार है नहीं होता हुआ बोला जा रहा है क्यों उसके न होने पर किसके सर्वगुण संपन्न जो पूर्ण ब्रह्म राजा है पूर्ण ब्रह्म राजा उसके अभाव में ये बोला जाता है सर्वगुण संपन्न पूर्ण ब्रह्मणी राजनी असत्य ऐसे राजा के अभाव होने पर असदैव एकदम राजगुणम बोल दिया जाता है ठीक इसी प्रकार यहां भी है सूर्य के अभाव के कारण से असदैव एकदम अग्नि आश्रित बोला इस जगत को असत है वास्तव में असत नहीं तद्वत टीका भी कहा टीका भी कहते हैं किंच उपक्रम उपसंहार ऐक्य रूपेण आदित्य ब्रह्म दृष्टि विधिपरम इधम वाक्यम न तस् कारणा सत्य तात्पर्य कल्पय सक्यम अन्यथा सिद्ध कल्प का अभाव सिद्धांत बोल रहे हैं किंतु दूसरी बात उपक्रम उपसंहार से इस प्रसंग का तात्पर्य निकाला जाता है वेदांत का उपक्रम में आदित्य ब्रह्म उपास्य ऐसा है और उपसंहार में आएगा <clears throat> आदित्यम ब्रह्म उपास्य ऐसा आएगा ऐसा आएगा आदित्यम ब्रह्म उपास थे उपक्रम माने चतुर्थ मंत्र में आएगा उपसंगार में आने वाला है हाँ, उपक्रम में आया है आदित्य ब्रह्म आदेश व्याख्यान ये वाक्य है उपक्रम में आदित्य को ब्रह्म कहा और अंत में भी आएगा सया एतम विद्वान आदित्यम ब्रह्म उपास थे आदित्यम ब्रह्म उपास थे पहले भी आदित्य अभी आदित्य ब्रह्म उपक्रम उपसंहार एक हो गया किंतु उपक्रम उपसंहार उपसंहार ऐक्य रूपेण एकता है दोनों के होने से इसका तात्पर्य आदित्य है ये सिद्ध हो जाता है वेदांत के तात्पर्य के निर्णायक सरलिंग होते हैं उपक्रम उपसंहार अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति चलिंग तात्पर्य उपक्रम उपसंहार को देखे आदित्य ब्रह्म पहले भी आया बाद में आदित्य आदित्य ब्रह्म पर बात है जगत असत कहने में तात्पर्य नहीं है आदित्य ब्रह्म है यह तात्पर्य किंतु उपक्रम उपसंहार ऐक्य रूपेण आदित्य ब्रह्म दृष्टि विधि परम वाक्यम ये वाक्य आदित्य में ब्रह्म दृष्टि करना ये सिद्ध होता है सिद्ध करता है न तस्य कारण सत्य तात्पर्य जगत के कारण नहीं है इसमें तात्पर्य नहीं है कारण असत्य में तात्पर्य नहीं हाँ, असत था कारण नहीं था जगत का कारण नहीं था इसमें तात्पर्य नहीं इस वाक्य का ये तो आदित्य ब्रह्म है ये कहने में तात्पर्य है न तस्य तस्य माने असत शब्द से जो असत एवं एकदम अग्रे आशित आया हुआ असत शब्द है उसके कारण असत्य था तात्पर्य कारण नहीं है जगत का ये कहने में तात्पर्य नहीं है कल्पयितुम सत्य ऐसा कल्पना नहीं कर सकते कारण असत्व में तात्पर्य है ऐसा कल्पना नहीं की जा सकती है क्यों देखो कल्पना तब करते हैं अनन्यथा सिद्ध होने पर ही सिद्ध होता है अनन्यथा सिद्ध होना चाहिए कारण को या अन्यथा सिद्ध हो जाता है हाँ, असदैव एकदम अग्रे आशित में अन्य कोई विकल्प नहीं मिलता है तब तो असत माना जाता है विकल्प मिल गया अव्यक्त अनविव्यक्त नाम रूप कहने से काम चल रहा है कारण को अन्यथा सिद्ध होना चाहिए जगत का कारण ये वाक्य असत दिखा रहा है ऐसा लग रहा है असदैव आशित ठीक है तो यहां पर अन्य विकल्प यदि न मिलता तब तो असत अर्थ करना होता कल्पना न करनी होती असत की किंतु यहां अन्य कल्पना है क्या है अनभियुक्त नाम रूप है तो फिर उसको कारण नहीं माना जाता दंड को कारण माना जाता है वो अन्यथा सिद्ध है दंड के बिना घट बन नहीं सकता रासवादी को कारण नहीं माना जाता क्यों अन्यथा सिद्ध है मिट्टी लाने का काम करता है घट के लिए दूसरे से आ सकता है रासव का होना कोई आवश्यकता नहीं है वो अन्यथा सिद्ध में आता है उसको कारण नहीं माना जाता दंड चक्र अन्यथा सिद्ध है उसके बिना नहीं बनेगा रासव के बिना न बने ऐसे गधे के बिना घट नहीं बन सकता क्या गधे से मिट्टी लाई जाती है क्योंकि गधा न हो तो दूसरे में आएगा स्थिति वो अन्यथा सिद्ध में आ जाता है ऐसी स्थिति है तो यहां ये अन्यथा सिद्ध में आ जाता है सदैव पद शब्द ये कहा क्योंकि कारण के सत असत्व में तात्पर्य कल्पना जब की जाती तो अन्यथा सिद्ध होना चाहिए यहां अन्यथा सिद्ध है ये अन्यथा सिद्ध नहीं है अन्यथा सिद्ध यह अन्यथा सिद्ध कल्पक अभाव ऐसे कल्पक कल्पना का अभाव है अन्यथा सिद्ध कारण का कल्पना होनी चाहिए उसका अभाव है यहाँ अन्यथा सिद्ध में आया हुआ है इसका नच इत्यादि भाषण का नच सत्वम असत्वम व यह जगत प्रतिपाद इष्टम इष्टम यहां पर जगत सत, सत है असत है इसको प्रतिपादन करना इस प्रसंग में तात्पर्य नहीं रखता यहां पर तात्पर्य क्या है आदित्य ब्रह्म की आवश्यक ये तो यही है पूर्व उपक्रम उपसंगार को देखते हुए आदित्य ब्रह्म है इसी का उपदेश परक वाक्य है जगत सत है असत है यह विचार नहीं यहां ये कहा ठीक है कहते हैं तत्परत्व कथम अवगतम आदित्य पर के वाक्य कैसे जाना गया तत्परत्व आदित्य परत्व ये वाक्य असदेव आदि आदित्य पर वाक्य कैसे जाना गया ये प्रश्न आया इतिहास उपसंहार से उपक्रमानुसारित्व देखो उपसंहार जो करना होता है उपक्रम के आधार पर करना होता है तो यहाँ उपक्रम में आदित्य प्रमित उपासित आया हुआ है उपसंहार भी ऐसे करना पड़े यही कहा उपसंहार से उपक्रम अनुसारित होता है उपसंहरिष्यति कहा जैसे उपक्रम हुआ है वैसे उपसंहार भी करेगी श्रुति संघरिष्यति श्रुति श्रुति उपसंहार करेगी क्या करेगी आदित्यम प्रमित उपास वहां भी आदित्य प्रमित उपास आया और यहां भी आदित्य प्रमित अच्छा आगे <clears throat> ठीक है हमें कहते हैं कथम तस्य असत शब्द वाच्य तुम तलाह कहते ये जगत को असत शब्द का वाच्य कैसे बना उत्पत्ति के पहले जगत असत था असदैव तुम्हारे आशित ये जो जगत है ये असत कैसे माना गया कैसे घटाएंगे तो कथम तस्य असत शब्द वाच्य तुम तस्य माने जगत इस जगत को असत शब्द का वाच्य कैसे आगे उत्पत्ति के पहले जगत में असत शब्द का प्रयोग कैसे हो गया इस शंका आ गई तो इसके उत्तर में कहा पहले तो भाष्य में और पंक्ति है तत् सदाशिरी हाँ। उसके बाद इधर असदैव यदमग्रे आशित पहले वाक्य उसके बाद आए तत्सदाशित ये वाक्य का अर्थ कहा सत था जगत सत आशित सत था कैसा था सदाशी तत् असत शब्दवाच्यम प्राग उत्पत्ति स्तिमितम अनिष्पंदम असद इव सत कार्य विमुखम ईसत उपजात प्रवृत्ति सत सद आशित तथो लब्ध परिस्पंदम इत्यादि कहते हैं तद सदाशित का अर्थ है कि तद माने असत शब्द वाच्यम जो तत्पर का अर्थ असत शब्द का वाच्य जो जगत पूर्व जो असत शब्द का वाच्य था असदैव मुद्राशित कहा तद माने असत शब्द वाच्यम प्राग उत्पत्ति उत्पत्ति के पहले जिसको असत शब्द से कहा गया जगत स्थिमितम माने गतिहीन था तो उसमें गति नहीं थी चलायमान नहीं था ये जगत स्थिमितम अनिस्पंदम चेष्टा रहित था कोई क्रिया नहीं हो रही थी उसमें ऐसा जगत असत इव सब असत होता हुआ जैसा हम्म। उत्पत्ति के पहले इसमें कोई क्रिया भी नहीं थी तिमित था स्तब्ध था चुप होके बैठा हुआ था ये जगत ऐसी स्थिति में थी तिमितम अनिस्पंदितम चलायमान नहीं था इसलिए असत इव सत असत जैसा होता हुआ ये जगत कार्याभिमुखम हाँ, असत इव सत्कार्याभिमुखम वह सत्कार्य की तरफ गया कार्य तो सत होना है अभी जगत नाम रूप लगना सत बनना है कार्य सत्कार्य के अभिमुख मुखम ईसत उपजात प्रवृत्ति सत आशी थोड़ी सी प्रवृत्ति हर किसी उसकी माने जैसे बीज को खेत में डालने डालते हैं तो सूजन आ जाता है पहले अंकुरित अंकुर फूटने के पहले ऐसे थोड़ा सा हो गया वही जगत में जो असत शब्द से कहा गया जगत जो था जगत था नाम रूप नहीं था ऐसा जगत था तो उसमें थोड़ी सी प्रवृत्ति हो गई माने कार्य में कार्य के तरफ अभिमुख होने की प्रवृत्ति हो गई थोड़ी सी प्रवृत्ति सदाशित ऐसा सदाशित कहा तब तो लब्धस परिस्पंदम अब वो क्या उस स्थिति में उसकी चेष्टा शुरू हो गया परिस्पंद प्राप्त हो गया उस जगत में तो लब्धस परिपन्नम माने भूत सूक्ष्माकार से परिणत हो गया माने अपंजीकृत महाभूत के आकार में परिणत हो गया उजड़ ऐसी स्थिति हो गई उसके बाद कहते हैं तत्सम अभवत उसके बाद सम्यक अभवत हो गया अल्पतर नाम रूप हो गया उसका थोड़ा नाम रूप वाला हो गया थोड़ा बड़ा आगे बढ़ा हाँ। तो असर शब्द ने कहा हुआ जगत था चुपचाप पड़ा हुआ था तब्द होकर बैठा था गति रहित था चलायमान नहीं था ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ जो तो कार्य के समय आया तो कार्य अभिमुख हो गया थोड़ी सी उससे प्रवृत्ति शुरू हो गई उसके बाद अंकुरित हो गया कहते हैं तत्सम अभवत ये कहा अंकुर अंकुरित हो गया वो अल्पतर नाम रूप व्याकरण अंकुरी भूतम बीजम जैसे बीज अंकुर हो जाता है यहां भी थोड़ा सा नाम नाम रूप आ गया शुरू हो गया जगत बनने के लिए शुरुआती साधन हो गया कहा तथोपि क्रमेण उसके बाद भी क्रम से आगे बढ़ता गया फूली भवन धीरे धीरे धीरे फूल हो गया जगह अभवत तद अद्भ्य अंडम समवर्त अद्भ्य माने पंचीकृत भूतों से होना है पूरे से किंतु यह जल प्रधान सभी भूत हैं तो यह अंडा के रूप में बन गया ब्रह्मांड गोल है इस अंडा के रूप में बन गया एक अंडा समर्थता समवर्त में टिप्पणी देते हैं निरवर्तता होना चाहिए मंत्र के आधार पर मंत्र में निर्वर्तता पाठ है और भाष्य में यह समवर्तता कर दिया तो टिप्पणीकार कहते हैं निर्वर्तता पाठ होना चाहिए ऐसे निर्माण हो गया अंडा के रूप में निर्माण हो गया ये कहना चाहिए ये कहा संवृतम समवर्तक संवृतम प्राप्त हो गया आंडम यदि दैर्घ्यम छांदस अंडम है वो वहां छांदस रह गया आंडम करके है अंडा गोल हो गया धीरे धीरे करके गोल बन गया तो नाम रूप लगा हुआ जगत हो गया ऐसा हुआ तद अंडम संभव सरस काल से प्रसिद्ध से मात्रा परिणाम अभिन्न स्वरूपम एवं असह्यता स्थितम भगवा कहा वो जो अंडा एक बन गया अंडा बन गया है गोल ब्रह्मांड ये अंडा होता है जैसे अंडा पक्षी के अंडे होते हैं उसी प्रकार गोल है सारा ब्रह्मांड यह एक साल तक एक वर्ष तक संवत्सर सदस्य काल से प्रसिद्ध से प्रसिद्ध है एक साल मात्रा मान परिणाम अभिन्न स्वरूपों में असहता स्थितम भगवान अपने स्वरूप में रह गया अभिन्न रूप से वो फूटा नहीं वो अंडा एक साल तक वो अंडा जैसे तैसे पड़ा रहा अभिन्न स्वरूप रहा तत् मैंने तत् उसके बाद तत् शब्द है तत् का अर्थ तथा उसके बाद तत् निर्भिज्ञता ऐसा आता है मंत्र में उसका अर्थ करता है तन निर्भिज्ञता ऐसा मंत्र है तत् माने ततः उस एक संवत्सर के पश्चात संवत्सर परिमाणात कालात ऊर्धम तत्काल है उस संवत्सर एक साल के परिमाण काल से आगे निर्विद्यत माने निर्विन्नम वयसाम युव जैसे पक्षियों का अंडा फूटता है उसी प्रकार वो फूट गया ऐसा तस्य निर्भिन्न से जब दो भाग हो गया फूटा तो दो भाग हो गया होने पर अंडस्य कपाल एक दो कपाल दो टुकड़े में हो गया एक नीचे ऊपर दो कपाल है रजतम से सुवर्णम से अवबताम संतृप्त कहा दो बन गए एक चांदी बन गया एक सुवर्ण बन गया नीचे वाला भाग चांदी बन गया ऊपर वाला भाग सुवर्ण बन गया यहां पर <clears throat> मान नीचे वाला भाग में लेना है भू अतल बीतल सुतल तलातल रसातल महातल पातल ये सब आ जाएंगे नीचे वाले लोग सारे चौदह भुवन जो बोलते हैं ब्रह्मांड में चौदह भुवन है और ऊपर वाले भी लाएंगे स्व महजन तप सत्य ये सब आ जाएंगे ऐसा लेना है एक ये बन गए ये बोल रहा है दो माने ब्रह्मांड तैयार हो गया ऐसा मानना है ये कहना है कहा ठीक है कहते हैं सत्वम तरी कथम इति जब असत शब्द वाच्य था तो फिर स्तिमित था तो सत कैसे हो गया ये जड़त ये प्रश्न आया तो कहा कार्याभिमुखम इत्यादि कहा सत कार्याभिमुख की ईसत उपजात प्रवृत्ति ही सदाशित सदाशित का अर्थ करते हैं जब असत पहले असत कहा फिर कहते कार्याभिमुख हो गया थोड़ी सी प्रवृत्ति हो गई उसमें कार्याभिमुख जगत बनने के लिए इत्यादि कहा बीज से उच्छूनता कारण से शिश्री अवस्था हम दर्शाएगी जैसे बीज में पहले सूजन आना शुरू होता है बाद में अंकुर फूटता है बाद में फिर वृक्ष बन जाता है इसी प्रकार कि जगत के भी क्या होगा थोड़ा शिश्रिक्षा अवस्था माना सृष्टि की अवस्था शुरू हो गई ये दिखाते हैं ईसत प्रवृत्ति इत्यादि कहा था भाष्य में भाष्य में कहा था ईसत उपजात प्रवृत्ति ही कहा थोड़ी सी प्रवृत्ति वाला हो गया जगत ठीक है हम कहते हैं लब्धस परिस्पंदम प्राप्त परिमाणम लब्धस परिस्पंदन का प्राप्त परिमाणम साथ परिमाण प्राप्त हो गया थोड़ा थोड़ा सा बढ़ गया वो प्राप्त होता होगा भूत सूक्ष्म कारण अभवत इत्यर्थ सूक्ष्म भूत के रूप में परिणत हो गया ऐसा आगे कहते हैं सूक्ष्म भूत उत्पत्ति अनंतरम फूल भूत उत्पत्ति महा सूक्ष्म भूत उत्पत्ति अपंचीकृत महाभूत की उत्पत्ति के पश्चात थूली जगत की उत्पत्ति में बताते हैं तत्वपी इत्यादि भाषण दिया था तत्वपी क्रमेण थूली अभवत फिर थूल हो गया पंचीकरण पर प्रक्रिया से बताएंगे भूत सूक्ष्माकार प्राप्ति अनंतरम जब सूक्ष्म भूताकार के प्राप्ति के अनंतर क्या करना पंचीकरण करना मिलाना पड़ेगा पंचीकरण प्रक्रिया से पंचीकरण प्रक्रिया अन्यो अन्य अन्योन्य अवयव अनुप्रवेश एक दूसरे के अवय प्रवेश हो गया आकाश का पृथ्वी में जल में तेज में सब में हो गया वायु में आदि में इसी प्रकार पृथ्वी का सब में हो गया एक दूसरे के प्रवेश अवय प्रवेश के द्वारा फूल भूत थूला अवस्था आशु थूलभूत अवस्था वाला प्राप्त हो गया जगत एक कहा थूले व्यस्त भूतेभ्यो अन्य निवृत्ति जब भूत थूल हो गया पंचभूत तब एक अंड की निवृत्ति हो गई ब्रह्मांड की निवृत्ति हो निर्वृत्ति हो गई संपादित हो गया ब्रह्मांड प्रतिज्ञानते प्रतिज्ञा करते हैं अध्यय इत्यादि कहा अध्यय माने क्या लेना है अब सहित भूते खाली जल से तो संसार नहीं बनेगा जल सहित भूतों से अध्यय आया हुआ है उसका अर्थ उपलक्षण करके अन्य भूत भी हैं पंचभूतों से हुआ है सब ये बोलना आगे मंत्र है तद यदरतम सेयम पृथ्वी यद सुवर्णम साध्यऊ यज्वरायु ते पर्वता यदूर्वम समेगो निहारो याधमनयस्ता नद्यो यद्वास्तेय मुदकम स समुद्र तब यज्ञ रजतम सेयम पृथ्वी यद सुवर्णम सात्यौ यजरायु ते पर्वता यदुल्वम समे भूनिहारो या धमनयस्ता नद्यो गर्भास्तेयमुदगम स समुद्र तद यदरगम जो अंडा जो फूट गया दो हो गया था रजत और सुवर्ण हो गया था कहते हैं वो रजत क्या है सुवर्ण क्या है एक टुकड़ा रजत बना एक टुकड़ा सुवर्ण पूर्व मंत्र में आया कहते हैं तद यद रजतम रजत वही है रजत वही है कौन कहते हैं सेयम पृथ्वी वो जो रजत कहा था ये पृथ्वी है टीका में बताएं भाष्य में कहेंगे पृथ्वी माने पृथ्वी से उपलक्षित नीचे के लोग सारे रजत शब्द से कहेंगे और यद सुवर्ण ऊपर के भाग का टुकड़ा जो था जो फूटा हुआ आटा का बाहर का छिलका वह क्या है सुवर्ण जो कहा था साध्यो वो दिवलोक माने पृथ्वी के ऊपर के सारे लोग वही है और एक जरायु उस अंडे के भीतर में जो जेर था जहां बच्चा है आदित्य बच्चा पैदा होना अभी जेर है बाहर के स्थूल वहां बाहर का जेर बाहर वाला जेर है जलायु के पर्वत पर्वत बन गए सारे देखते पहाड़ है वही पर्वत है और यद उल्बम तो भीतर के जो सूक्ष्म गर्भ परिवेष्टन था भीतर वाला बाहर वाला ना भीतर की झिल्ली जो बोलते हैं वो था जो गर्भ में चिपटा हुआ वही वो बोलते हैं उसको यथोल वेदावृतो गर्भ गीता में है तेरे तथा तेरे जब आवृतन उल्व माने वो बच्चे के साथ से चिपका हुआ जो होगा सा मेघ हो हो मेघ वर्षा करने वाले बादल को मेघ बोलते हैं मेघ निहार माने कोहरा भी होता है हिम आदि बर्फ आदि भी होता है मेघ के सहित मेघे में सहित है समेघ जो मेघ के सहित यहा कोहरा आदि बन गया याद हमारा और जो भीतर जो शिशु था उसके भीतर बच्चा है आदित्य भाई बच्चा पैदा होना है अभी बालक है या दमन यह उसके जो नाड़ियां हैं धमन नाड़ियां स्था नदी वो नदी है सारे नदी बन गए अभी जो नदियां चल रही यद वास्ते मुदगम उसके जो मूत्राशय में बस्ती होता है मूत्राशय मूत्राशय में जो जल था उस शिशु का पैदा होने वाला शिशु है सब समुद्र समुद्र बन गया इत्यादि का हाँ। भाष्य में कहते हैं तत् तय तत् माने तय हो तद जो ये तद का अर्थ तय हो वो दोनों में से दो टुकड़े में से दो भाग बना हुआ है फूटा है कप दो तयो कपाल है दोनों कपालों का यद रजतम कपालम आशित जो रजत वाला कपाल था चांदी वाला कपाल शेयम पृथ्वी सायम पृथ्वी पृथ्वी यानी पृथ्वी उपलक्षितम अधो अंड कपालम इत्यर्थ पृथ्वी यहां उपलक्षित है पृथ्वी शब्द पृथ्वी के सहित नीचे के जितने भी अंड कपाल हैं सारे अतल पृथ्वी भू अतल बीतल सुतल तल रसातल महातल पातल सब आ गए सारा अंड कपाल जितने भी यद सुवर्णम कपालम साध्य हो जो ऊपर वाला भाग सुवर्ण कपाल कहा था वो दिवलोक है मान यहां भी दिवलोक से उपलक्षित ऊर्धम कपाल स्व हाँ। इत्यादि जितने भी हैं स्व महजन तपस्य जितने हैं सब आ जाएंगे सब लेना मान ब्रह्मांड पूरे ये दो कपालों के भीतर हो गए यह जरायु माने ब्रह्मांड क्या है एक तरह की है चौदह मंजिल का एक बिल्डिंग है समझो ब्रह्मांड यही है बिल्डिंग एक ही है वो भीतर में हमने बाहर की दीवार तो एक ही होता सारा भीतर में हमने मंजिल मंजिल बनाया हुआ ऐसे यहां भी हाँ बेसमेंट हो गया महा रसातर पाताल हो गया वहां से लेकर के चल रहे हैं सब चलता रहता है एक एक मंजिल है सारा चौदह मंजिल का है इसलिए चौदह भुवन करके कहा जाता है इसको यह जरायु गर्भ परिवेशनम थूलम जो बाहर के भाग का जो गर्भ को परिवेशन करने वाला मांस है जरा जेर है जो एक आयु उस गर्भ के भीतर वो अंडे के भीतर जो जरा जेर था फूलम फूल भाग था बाहर का भाग अंड से अंडे के फूल भाग है द्विशकली भाव का आले आशे जो तो अंडा फूटते समय में जो जेर था आशे ते पर्वता बहु पर्वत पर आज जो पर्वत दिख रहे वही है ऐसा सब पर्वत बन गया यदि उल्बम गर्भ परिवेशनम और भीतर के तरफ जो जेर है सूक्ष्म भाग है गर्भ के साथ चिपटा हुआ तत्सह मेघ ही समेघ मेघ के साथ होने जो होगा उसको मेघ समेघ बोला जाएगा जैसे सपुत्र ऐसे समेघ मेघ के सहित निहारो माने अवश्य आयो होगा अवश्य आय अर्थ का टीका में अर्थ किया अवश्य आय शब्द ना हिमम इति उच्चते हिम कहा हुआ यहां गर्भ से जाते से देहे धमनय जो गर्भ पैदा होगा उसके शरीर में जो शीरा नाड़ियां हैं नाड़ियां हैं ता नदियों को वो नदी बन गए जो नाड़ियां रक्त को वहन कराते हैं ब्लड प्रेशर काम करते हैं तो ये भी यही नदियां बह रही है इसी प्रकार है नदियां हो गई यश तस् बस्तव भवन वास्तव मोदकम जो बस्ती माने होता है से उसमें होने वाले जो जल है उसको वास्ते बोलते हैं तो उसका उस जल को जल जो हुआ समुद्र बन गया एक <clears throat> ठीक है ना इसके आगे मंत्र है यद अजात सो असवादित्य तम जायम घोषा उलुलभो अनोदतिषंत सर्वाणी च भूतानि सर्वे च कामः तस्मात्तस्योदयम् प्रति प्रत्यायनम् प्रति घोषा उलुलभो अनुत्तिष्ठन् अनुतिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामः अथ यत्तत् अजायत सो असोवादित्यः तम जायमानम् घोषा उलुलगो अनुदत्तिष्ठन् सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामः तस्मात्तस्योदयम् प्रति प्रत्यायनम् प्रति घोषा उल्लभो अनुतिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानी सर्वे च काम अथ यद जो उस अंडा कपाल में जो पैदा हुआ उस अंडे के भीतर जेर के भीतर जो पड़ा था जिसकी इतनी चर्चा हो गई जो पड़ा हुआ शिशु है यद तद अजायत जो पैदा हुआ असो सो असो आदित्य वो ये वही आदित्य वही ऊपर वाला जो आदित्य वही पैदा हुआ है वही पैदा हुआ है ठीक है जो आदित्य पैदा अब हुआ इसलिए जगत असत जैसा था जगत था किंतु तो असत जैसा था क्यों उस काल में आदित्य नहीं था इसलिए असत जैसा था जैसे एक राजा विशेष सर्वगुण संपन्न पूर्व ब्रह्म राजा के अभाव में राजकुल होता हुआ भी असत जैसा था असद ही इलम राजकुल बोला जाता है इसी प्रकार जगत को बोला अध्याकृत नाम रूप वाला था आदित्य के द्वारा नाम रूप की अभिव्यक्ति होती है इसके लिए कहा अतः यह तद अजायता जो कुछ से पैदा हुआ है उस अंड से या तद माने तस्मात अंडा अजायता जो अंडा से पैदा हुआ सो अशो आदित्य वो यह आदित्य ही है <clears throat> तम जायमान घोषा उल्लो अनुदत स्थन जब पैदा हुआ आदित्य पैदा होने लगा घोष माने अव्यक्त शब्द अव्यक्त शब्द उरु लब उरु रव ऐसा उरु माने विस्तीर्ण और रव माने शब्द अव्यक्त शब्द बहुत सुदूर व्यापी शब्द पैदा हो गए अनु अनु उत्तिष्ठन ऐसा है अनु माने पश्चात आदि माने तम जायमानम अनु वो अनु को वह लगाना फिर उत्तिष्ठत हो जाएगा मतलब गया अनु उत्तिष्ठत ऐसा है अनु अतिष्ठत अनु और उत्तिष्ठत ऐसा है उत्पन्न हो ऐसा बोलेंगे अनुद अतिष्ठत है ना अनुद उदा तिष्ठन है अनु उद अतिष्ठन ऐसा है स्थिति है उद उपसर्ग क्रिया के साथ है अनु उपसर्ग है तम जायमानम अनु ऐसा लगाना आगे फिर अनु तो तिष्ठन हो जाएगा तिष्ठन ऐसा हो जाएगा उस आदित्य के उत्पन्न होने के पश्चात जायमानम अनु पश्चात घोषा उनु लघु सुदूर व्यापी विस्तीर्ण शब्द माने घोष माने अव्यक्त शब्द को घोष बोलते हैं घोषा उलू रब माने उरु अरे रव माने उरु माने विस्तीर्ण होता है रव माने शब्द होता है ऐसा यहाँ लप करके रखा हुआ है विस्तीर्ण शब्द अनु तो पर पहले चला गया उदत्तिष्ठन उद अतिष्ठन उत्पन्न हो गए ऐसे शब्द उत्पन्न हो गए ऐसा सर्वाण जो भूतानी सर्वे से काम कहते इतना ही नहीं खाली शब्द ही उत्पन्न हो गए नहीं सारे प्राणी उत्पन्न हो गए और सभी विषय उत्पन्न हो गए वह अनुतिष्ठन अनुदतिष्ठन यहां भी लगाना क्रिया खाली आदित्य के पैदा होने पर केवल शब्द ही पैदा हुए बात नहीं सर्वाणी जो भूतानी सर्वे से काम सारे प्राणी प्राणी वर्ग भवंती भूतानी सारे प्राणी वर्ग और सभी काम्यंत कामा विषय सारे विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध जितने सब उत्पन्न हो अनुतिष्ठान किया हो जाएगा तस्मात इसलिए आदित्य की ऐसी महिमा है आदित्य उत्पन्न होते ही इतना बड़े शब्द हो गए इसलिए उस महिमा से क्या करते हैं तस्मात तस्वोदय प्रति प्रत्याय आज भी उस आदित्य के उदय के समय में और अस्त के समय में दोनों में घोषा उग्रो अनुतिष्ठन थी आज भी शब्द होते हैं चिड़िया चीची चीजें करते हैं इत्यादि होते हैं शब्द होते हैं आदित्य के उदय काल में और अस्त काल में घोषा उग्र विस्तीर्ण शब्द अनुतिष्ठन थी अनुमान पश्चात हम्म। उत्तिष्ठन थी उत्पन्न होते हैं सर्वाणी भूतानी सर्वे से काम और सभी प्राणी सभी वर्ग ऐसे हो जाते हैं वो शब्द युक्त हो जाते सारे एक भाष्य में कहते हैं अथ यद तद अजायत जो कुछ उसे पैदा हुआ अंड में अजायत गर्भ रूपम तस्मिन अंडे जो गर्भ रूप था अंडा था उस गर्भ उस अंड में गर्भ रूप उस अंड में था स्व अशुभ आदित्य वो आदित्य ही पैदा हुआ तम आदित्यम जायमानम अनु घोषा शब्द उल्लव उल्लवो विस्तीर्ण रवा उदत्तिष्ठन उत्तवंत इत्यादि कहा <clears throat> उस आदित्य के जायमान में उत्पन्न होने के पश्चात अनु माने पश्चात घोषा माने शब्द <clears throat> जो शब्द है उलूलवन उलूलव विस्तीर्ण शब्द विस्तीर्ण रवा सुदूरव्यापी शब्द होंगे ऐसे शब्द उदत्तिष्ठन उत्पन्न हो गए माने उत्थित बंत उसका अर्थ उत्पन्न हो गए ईश्वर से कहा प्रथम पुत्र जन्मनी परमात्मा के प्रथम पुत्र हुआ है आदित्य ईश्वर से यह प्रथम जन्म जन्मनी अच्छा नहीं कहते हैं यह प्रथम पुत्र जन्मनी इव ऐसा हो जाएगा जैसे यहां पर पहला पहला पुत्र पैदा होगा तो लोग शब्द करते हैं इसी प्रकार हुआ ईश्वर के भी जन्म में ऐसा हुआ ये कहना चाहते हैं जन्म सर्वाणी चथावर जन्मानी भूतानी जितने भी स्थावर जन्म जितने भी भूत थे सबके सब सर्वे चतेषाम भूतानाम कामा और वो भूतों में जो विषय है जितने भी है काम जो कामा विषय है जितने भी विषय है सबके सब स्त्री वस्त्र अन्ना है स्त्री है वस्त्र है अन्ना जो भी विषय जितने भी हैं सबके सब उत्पन्न हो गए उदतिष्ठन ऐसे क्रिया लगा देना यशमान आदित्य जन्म निमित्ता भूत काम उत्पत्ति जिसको कि देखो आदित्य के जन्म के निमित्त है प्राणी की उत्पत्ति और विषयों की उत्पत्ति भूत माने प्राणी और विषय काम माने विषय काम शब्द का इच्छा भी होता है काम शब्द का मतलब विषय भी होता है या विषय है काम में अंतिम काम है जिसकी इच्छा हम करते हैं काम है काम मान विषय ऐसी इस बात आदित्य जन्म निमित्त भूत काम उत्पत्ति जैसे कि आदित्य के जन्म के निमित्त है प्राणी की उत्पत्ति और विषयों की उत्पत्ति तस्मात अद्यत्व भी आज भी ऐसा देखा जाता है आदित्य के उदय होने पर अस्त होने पर यहाँ भूतों में कुछ कोलाहल होता है ये कहते हैं अद्यत्व भी तस्य आदित्य से उदय प्रति जो आदित्य उदय होने पर और प्रत्यायन प्रति अस्तगमन होता प्रति प्रत्यायन माने अस्तगमन होना उसके प्रति अथवा पुनः पुनः प्रत्यागमन प्रत्यागमन प्रति अथवा प्रतिदिन आना प्रति आगमन होना और प्रतिदिन जाना इसके प्रति तब निमित्त करते तो उसके निमित्त करते क्या करते हैं तो कहते हैं सर्वाणी च भूतानी सर्वे च काम घोषा उलुलवश्च अनुतिष्ठन्ति ये सारे शब्द करते हैं सारे प्राणी सारे विषय शब्द करते हैं विस्तीर्ण शब्द करते हैं कहा प्रसिद्ध हम ही ये तत् उदयादो सवितुर माने प्रसिद्ध है माने आदित्य के उदय होने पर सब उठ जाते हैं देखा है टीका में कहते हैं उलू लव इति उत्सव कालीना शब्द विशेष विशेष देश प्रसिद्ध देश विशेषा प्रसिद्ध या उल्टा शब्द तो नहीं है शब्द विशेष देश विशेष ऐसा पाठ है यहाँ छपा है शब्द विशेष देश विशेष ऐसा तो नहीं होगा शब्द विशेष देश विशेष होना चाहिए देश विशेष में ऐसा शब्द विशेष है उलू लग उत्सव का आएगा उलू लग शब्द कोई उत्सव काल में प्रयोग होने वाले शब्द है शब्द विशेष है कोई उत्सव हो रहा हो उस काल में प्रयोग होता है ऐसा देश विशेष में ऐसा शब्द उलूलभ शब्द का देश विशेष में उत्सव काल में प्रयोग होने वाला विशेष शब्द को उलूलभ करके बोला जाता हाँ, हाँ। है हाँ वो जो बंगाल में होता होगा ओलू ओलू ये उत्सव काल में विशेष शब्द होता है उसी देश विशेष में है ये प्रसिद्ध शब्द है उलूलभ शब्द हो सकता वही हो सकता स्त्री वस्त्र अन्नादय उदत पिष्टम हाँ, सबके सब उसके आदित्य के उदय होने पर सब उत्पन्न हो गए उदत पिष्टन इति पूर्वेण संबंध वो उदत क्रिया भी इनको भी संबंध लगा देना आदित्य के साथ इनको भी लगा देना सब उत्पन्न हो गएगा किमत्र प्रमाण यदि आशंका तो आदित्य के उत्पन्न होने पर सबके सब उत्पन्न होते हैं इसमें क्या प्रमाण है पूछा तो कहते प्रसिद्धम भी एतद उदयादु सभी तो हाँ, ये सब प्रसिद्ध है सुविता में उदय अस्त में सब शब्द करते हैं सब निकलते हैं सूर्य उदय हुआ तो दिखाई पड़ते ये उत्पन्न हो गए सब सूर्य अस्त हो गया तो दिखाई नहीं पड़ते ये अस्त हो गए सब प्रसिद्ध है सूर्य उदय होने पर सभी उत्पन्न होते हैं देखा प्रतिदिन देखा जाता है नहीं तो दिखाई नहीं पड़ता उत्पन्न हो गए सूर्य अस्त हो चले प्रसिद्ध है एक आगे मंत्र है सयतम एवं विद्वान आदित्यम ब्रह्म उपास्ते अभ्यासो हयदेनम साधवो गोसा आतगछे उपचन्नम उपच निमृडेरन सयतम एवं विद्वान आदित्यम ब्रह्म उपास्ते व्यासो हरि एनम साधवो गोसा आचगछे उपच निम्रेडेरम निम्रेडेरम जो कोई भी हो जो कोई भी हो वह एकम एवं विद्वान इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान जानकार होगा आदित्य को ब्रह्म समझने वाला व्यक्ति आदित्य ब्रह्म के पास थे आदित्य को ब्रह्म मान करके उपासना करता है हाँ तो क्या होगा ये अदृष्ट फल है वो क्या होगा तो कहेंगे तद आदित्यम प्रतिपत्ति फल होगा वो आदित्य को प्राप्त होगा फल होगा आगे दुष्ट फल बोलते हैं अभ्यास हो एवं साधो दोषा आचवच्य उपचन ये दृष्ट फल बताते हैं माने आदित्य की उपासना करने वाले अदृष्ट फल तो आदित्य ही बने रहो किंतु दृष्ट फल कहते हैं शीघ्र ही अभ्यास माने शीघ्र शीघ्र ही यद एनम सार्वघोषा घोषा जो अच्छे अच्छे शब्द हैं हम्म, सुंदर सुंदर शब्द सुनता रहेगा अशुभ समाचार नहीं सुनाई पड़ेगा जीवन में साधव सुखोषा साधो घोष सुंदर शब्द आज बच्चे आएंगे और उपचन मृण सुख भी देंगे वो शब्द कभी कभी दुख देने वाले शब्द आते हैं कान में सुख देने वाले शब्द निब्रीडेरम सुख देने वाले होंगे वो शब्द उपचन मृण उपचन मृण कहा वो शब्द आएंगे और सुख भी देंगे ऐसे शब्द आएंगे अच्छे शब्द आएंगे और सुख देने वाले शब्द आएंगे उसके लिए फल होगा दृष्ट फल अदृष्ट फल आदित्य भाव को प्राप्त होगा यही कहना है ठीक है भाष्य में कहते हैं स या कश्चित एतम एवं यथोक्तम महिमान जिसके महिमा बता दी आदित्य की महिमा असदैव मगरे आशित आदित्य के बिना तो असत था और आदित्य उत्पन्न होने पर सारे संसार उत्पन्न हो गया और सारे आवाज हो गए जिसकी महिमा ऐसी सुनाई पड़ी आदित्य की सहायक कश्चित एकम एकम यथोक्त महिमान विद्वान ऐसे जानने वाला जो व्यक्ति होगा सम आदित्यम ब्रह्म के उपास थे इस महिमा को जानने वाला विद्वान आदित्य ब्रह्म है ऐसा करके उपासना जो करता है स वो विद्वान तद भाव हम प्रतिपद्य थे या अदृश्य पाल वो आदित्य भाव को प्राप्त होगा किंच दृष्टम फलम ये तो अदृष्ट फल हो गया आदित्य भाव को प्राप्त होना मृत्यु के पश्चात किंतु दृष्ट फल होगा ये किंच दृष्टम फलम अभ्यास मत क्षिप्तम शीघ्र ही तद विरो उस आदित्य को ब्रह्म समझने वाले के लिए यदि क्रिया विशेषण यद शब्द क्रिया विशेषण है माने एवं विदम साधु वर्षा आगच्छू यद तत्म है इस प्रकार के साधु शब्द शीघ्र आएंगे अर्थ होगा ये कहना चाहते हैं क्रिया विशेषण एवं एवं विदम साधव शोभना घोषा इस प्रकार को जानने वाले के लिए अच्छे शब्द आएंगे जिंदगी में माने बुरे शब्द सुनना नहीं पड़ेगा उसको अच्छे शब्द आएंगे साधुत्म घोषादि नाम यद उपभोगे पापान हुआ इस शब्दों में साधुत्व क्या है कहते हैं जिसमें उपभोग काल में पाप रूपी अनुबंध नहीं है जिसमें पाप होगा तो शब्द गलत हो गया आ जाएंगे गलत शब्द सुनेगा पाप के कारण से इसमें पाप अनुबंध नहीं है इसलिए अच्छे शब्द सुनेगा यही है शब्दों में साधुत्व साधुत्व घोषादि नाम तो शब्दों में जो साधुत्व क्या है यह तो उपभोग काल में पाप अनुबंध अभाव है जिसमें पाप जुड़ा हुआ नहीं होगा तो अच्छे शब्द आएगा यही आएगा माने दूसरे व्यक्ति हमें गाली दे रहा है इसका मतलब हमारा पाप वहां काम कर रहा है हाँ जरूर आए हमारा पाप काम कर रहा है इसलिए नहीं तो क्यों ऐसा होगा हमें क्यों सुनना पड़ा शब्द अच्छे शब्द भी तो बहुत है उसके पास यही शब्द क्यों आया हमारे पास हमारे पाप का कारण है वहां पाप अनुदान स्थिति और अगर अच्छे हुआ और आगच्छे यू आचरक्षे का मतलब आगच्छे ऐसा आता है आगच्छे उस च को बाद में आचगच्छे में पहले च है क्योंकि क्रियापद के बाद में च लगा देना आ जाते हैं और उपच निमृडेरम और आकर के सुख भी देंगे उनको निमृडेरम निमृडेरम च इत्यादि का <clears throat> निमृडेरम उपच निमृडेर में च को बाल में ले जाकर हम नहीं करना निमृडेर चल ऐसा और उसको आनंद भी देंगे न केवल आगमन मात्र केवल उस अच्छे शब्द का आगमन मात्र नहीं होगा घोषाण आगमन मात्र घोषाण शब्दों को केवल आगमन मात्र नहीं उपसुख है सुख भी देंगे तो देने वाले होंगे उपसुखम चतुर्भ्यो माने सुख भी करेंगे शब्द वीर अभ्यास हो अध्याय परिसमाप्त्यर्थम समाप्त आदरार्थस्य दो बार कहा ऊपर निमृण ऊपर निमृण अध्याय समाप्ति के लिए भी हो सकता है आदर के लिए भी हो सकता है ठीक है कहते हैं तद्विदो दृष्टम फलम इति संबंध अदृष्ट फल तो हो गया आदित्य को ब्रह्म समझ करके उपासना करने वाला आदित्य बनना और अदृष्ट फल क्या होना है तो कहा कि अच्छे शब्द शीघ्र आएंगे और सुख भी देंगे ये दृष्ट फल होगा अच्छा अदृष्ट फलम आहत्य होना चाहिए एक करके अदृष्ट बल जोड़ करके एक करके कह दिया पहले यहां पर मिला करके बोल दिया आहत्य माने एक एक एक मिला करके एक करके कह दिया अदृष्ट बलम यहां आहय ऐसा बना हुआ है किंतु पकार लगाते हैं जहां आहत्य होना चाहिए मिला करके माने उसका अर्थ करते टिप्पणी में आहत्य माने उपरिष्टान को ऊपर से मिला करके सारांश एक बना करके टाइप सामर्थ्य ऐसा आया अदृष्ट बलम आहत्य उत्वा बिला करके कह करके बिला करके वो आदित्य ही बनेगा वो आदित्य की उपासना आदित्य ही होगा बिलाकर कथन कर दिया उत्वा दृष्ट बलम आचष्टे ऐसा आया क्योंकि तद प्रतिपद्य थे ऐसा बोला था ना भाष्य में माने आदित्य की उपासना को आदित्य ही बनेगा तो पूर्व पूर्व से बिला करके एक अर्थ कर दिया उसका आगे अदृष्ट फल के बारे में कहा <clears throat> किंच इत्यादि कर कहा तद विदो दृष्टम फलम यह दृष्ट फल के बारे में कहा आगे क्रिया विशेषण आया है यद शब्द आया क्रिया क्या है क्रिया विशेषण कहते हैं इस प्रकार क्रिया विशेषण ऐसा करना क्या करना एवं विदम साधवो ऐसे जानने वाले को साधव मैं घोषा आगछेयु इति यद जो आना है यद यद ले जाके वहां तक क्षिप्र जो साधु शब्द आने वाले हैं वह शीघ्र होंगे ये अर्थ तो क्षिप्र क्रिया के साथ जोड़ देना उसका क्रिया विशेषण अप्रतिबंध अप्रतिबंध नहीं तब बिना प्रतिबंध के आइए ये रुकावट नहीं होगा ये कहा आदित्य ब्रह्म दृष्टि आदर से विषय या आदर किसके आदर भाष्य में कहा था अध्याय समाप्ति के लिए अथवा आदर के लिए तो आदर किसका आदित्य में ब्रह्म दृष्टि के आदर इसके लिए कहा इस प्रकार ये तृतीय अध्याय समाप्त होता है आगे चतुर्थ अध्याय आएगा